और हमने एक आड़ उनके आगे खड़ी कर दी है और एक आड़ उनके पीछे खड़ी कर दी है और इस तरह उन्हें हर तरफ से ढांक लिया है जिसके नतीजे में उन्हें कुछ सुझाई नहीं देता